त्र्यंबकम यजा महे सुगंधे वर्धना त्र्यंबकम नाम ईश्वर का है उसके हम पूजा करते हैं उपासना करते हैं भक्ति करते हैं और प्रार्थना है पूर्वारूपमिव बंधना पूर्वारूपम का अर्थ खरबूजा पकने पर बड़ा स्वादिष्ट सुखप्रद होता है और जिस बेल में लगता है उस डंठल से स्वतः दूर हो जाता है ईश्वर की सहायता पा करके हम विविध कलेशों से छूट जाते हैं आज संसार इतना संपत्तिशाली होता हुआ दुखी क्यों अच्छी तरह सोचो धन की कोई कमी नहीं है भौतिक विज्ञान की कोई कमी नहीं है और उत्पादन भी बहुत बढ़ चुका है पर व्यक्ति महासुखी है ध्यान दो वेद ने एक बात कही क्या अंधन समय परिवेशन की ये असंभूति में पा तत्व भूय जीवते तमह ये ऊसम जान रहा जो लोग प्रकृति की खोज में लगे हैं प्रकृति को ढूंढ रहे हैं आकाश पाताल को खोजा है उन लोगों का दिमाग यह है कि वहां हमारे जीवन की सफलता केवल प्रकृति के ज्ञान विज्ञान से वो प्रकृति को ही पूज्य मानते प्रकृति को ही सर्वोपरी मानते तो अंधनतम की महाअंधकार को प्राप्त होते हैं ये व्यक्ति नीच से नीच योगियों को प्राप्त आज की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि सर्वोपरि सबसे मुख्य जो ईश्वर जो पदार्थ है वस्तु तत्व है उसको इतना बाहर निकाल के फेंक दिया है कोई ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है आप खोज करते हैं कि दुखी क्यों बस एक मूल में इसके कारण विद्यमान है व्यक्ति का संबंध ईश्वर से कट गया है हम यदि मोटे मोटे तीन विभाग बनाए तो बने ईश्वर से बिल्कुल संबंध कट जाना अत्यंत दुखदायी है मानव जाति का विनाश का कारण बनता है उदाहरण के रूप में जो ये उद्घोष करते हैं ईश्वर की सत्ता का खंडन करते हैं ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है जैसे कि कार्ल मार्क्स वो कहता है आत्मा परमात्मा नाम की चीज कोई नहीं है ये लोगों को अफीम खिलाई जा रही है ईश्वर के नाम से धर्म के नाम से आत्मा के नाम से ये दार्शनिक विद्वान गिना जाता है और इसकी बुद्धि देखो कहां काम करती है ये भोगवादी केवल भौतिकवादी केवल भूतों को मानने वाले लोगों ने ऐसी ऐसी परंपरा चलाई ऐसी पुस्तकें लिखी ऋषियों की परंपरा का लोप हो गया ईश्वर देखो आप ऋषियों की परंपरा को कितने पढ़े लिखे लोग मानते पी बीए पीएचडी कितने हैं भारत के अंदर कितने लोग हैं महर्षि धान सरस्वती की बात कितने लोग मानते हैं पतंजलि की बात कितने लोग मानते हैं गौतम की बात कर्नाटक की बात व्यास की बात कितने मानते हैं पढ़े लिखों में आप देखेंगे वो नाम मान करके ये चीजें आती हैं इनको सबको भुला कर भयंकर अवस्था पैदा कर दी और ये भारत के लोग पढ़े लिखे सारे के सारे भेड़ चाल कर दिए भेड़ के पीछे भेड़ क्योंकि नींद तो नहीं आ रही भेड़ चाल तो जानते हो आप रोकना पड़ेगा बीच में जो सो सो जाओगे आप भेड़ बहुत मूर्ख होती है सुनी सुनी है देखी थी है कभी नहीं भेद देखी उसकी मूर्खता देखी कभी नहीं देखी बस क्या ठिकाना उसकी मूर्खता <laughs> एक दिन वो बस में बैठा आया आंध्र प्रदेश में प्रचार के लिए गया और मुझे याद थी भेदों की गतिविधि और बस बड़ी तीव्र गति से चल रही थी बाई ओर से दूर की जब बस एक भेड़ निकल रही बस की आगे थी और दूसरी भेड़ से पीछे पीछे आ रही थी वो दूरी पर मैंने सोचा ये तो गई तो निकल गई ये मूर्ख और भेड़ का वाली ये दूसरी कर देगा मैं यूं का ही बता रहा हूं आपको अध्ययन कर रहा मैं बैठा बैठा बस के अंदर ये पागलपुर वो नहीं कर देती आगे बस जैसा सामने आगे खड़ी हो जाएगी ऐसा ही हुआ वो तो निकल गई पहले और बस आ गई पांच में ये दूसरी आगे के सड़क पर आई तो कुप्पा हो गया घास वास सारा लग मैंने कहा ये है मेरी जो इन नास्तिकों के पीछे चलेंगे भेड़ की तरह खूब जा टूट जाएगा अब देख लो खाया पिया बाहर और बुरी तरह फूटे रहेगा याद रख लो छोड़ेगा नहीं परमात्मा सुअर देखे आपने प्रातः खान निकलते हैं और साल के सारी नालियों को साफ करते रहते हैं रात जी को फिर भी भूखे सो जाते ये बनोगे फिर बच नहीं सकते हमारे शरीर की रचना पशुओं के शरीर की रचना बताती है कि हमने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया था इसलिए इतना अच्छा शरीर मिला बुद्धि आंख नाक उन्नति करते करते परमात्मा तक पहुंचते हैं ये बिना कारण के नहीं है वह भाषे का न्याय का न्याय के उनका भाव सुनाता हूं वो कहता है जो लोग कहते बिना कारण के बिना कर्म के ये मनुष्य शरीर मिलता है बस वहां के शब्द ऐसे कठोर हैं बस वो कहते मामूर्ख हैं जो लोग ये कहते हैं मनुष्य शरीर बिना कारण के बिना कर्मों के मिल गया वही बुद्धिमान नहीं मानेगा मनुष्य शरीर बिना कारण के नहीं मिला अच्छे कर्म किए थे मनुष्य शरीर मिला और बुरे कर्म किए थे सुअर गदा घोड़े का ये मिलता है अगर ये बताओ ऊंट की रचना कर देंगे बच्चे निकलो हाँ जी ऊंट को बना देंगे आज तक तो बनाया नहीं आगे भी क्या करेंगे हैं अच्छा ऊंट को देखो कैसा विचित्र बना रखे हैं ये क्या बात है इसमें भी कर्मकार है <laughs> ये ऐसा ऊंट ऐसा नहीं बना और बुरी विचित्र झाड़ जगाड़ खा जाता है ये और अंदर जाके ऐसी गोली सी बनती है जो मशीन से बना रखी है वो टट्टी करता है देखा आपने तय की तरीके मुझे आदमी कर रही है ना थोड़ी सी एक दिन की बड़ी जोर से कथा सुना हो सकता काश्मीर को वो कोई सब भी जो था कोई जब बिना पढ़ा देखा तो था वो अपनी सारी की कहता था लकड़ी के लिंगड़ों से तो गिरता रहा गिरता रहा लोग पूछते आते बेटा आप कौन की तरह एक लिंगन छोड़ देता था तुम बकरी का आज इतनी आज इतनी एक दिन बकरी आदमी वहां फंसी हुई थी जब उसने लिंगन कर डाले उसकी उसकी हंडिया में वो कहने लगा क्या तारीख तो या तो सारे घूरवाल है क्या वो भी पता नहीं तो बकरी के भी ऐसे ही गोल मटोले के बनते गोल गोल गोल गोल जैसे भी चित्र रचना है मांसाहारी जैसे शेर है उसकी दूसरे दिन की रचना अच्छा देखो हम तो आगे चार दाम पीछे होते हैं चार पीछे होते हैं नहीं जानते हो वो क्या काम करते हैं है ठीक बोलना क्या करते हैं नहीं नहीं अगले चार दांत ऊपर के चार नीचे के क्या काम करते हैं हाँ काटते और ये दाए बाएं नीचे वाले क्या करते हैं ये पीसते नहीं समझे आप आपको पता नहीं चलता कैसे पीसते हैं और हमारी जीवा क्या काम करती है पता है हैं? नहीं अंदर नहीं ले जाती ध्यान करती है पूरा और खाते से समय ध्यान नहीं देते ऐसे वहां ले जाती है यहां ले जाती है बहुत बात करके इसके नीचे इसके और कहीं दांत के नीचे आगे कट जाती है नहीं देखा आपने इतनी उथल पुथल करती है कि जाती नहीं है हमने सोचा भाई कट क्यों जाती है कई बार ये तो दौड़ दिखाती है उसका उस ग्रास को यहां से यहां पहुंचा देंगे झट यहां से यहां और कई बार बीच मांगे कट जाए ये सारी की सारी हिसाब जो है भला ये बिना परमात्मा के कैसे रचना होगी मुझे गुरुकुल में रहता था तो चम्मच से नहीं खाता था उसमें कम सारी चम्मच से खाने लग गए थे वो कहते कहते थे कि आप चम्मच से नहीं खाते मुझे तो उत्तर देता थी चम्मच भगवान ने बनाया मैं इसलिए खाता हूं देखो कुछ उंगलियां बड़ी हैं और कुछ छोटी ये क्यों बनाई बताओ अनेक प्रयोजन हो सकते हैं परंतु एक प्रयोजन निश्चित है और भी हो पतली चीज को खाने के लिए रबड़ी पानी और देखो मोर से ही जो राजा बन जाता और ये भी सारी बराबर होती तो ऐसे होता बाय बाय निकल जाता और ये तो छोटी हो जाती ये बड़ी ठीक और अनुसार योजना रोक लेता है रबड़ी ऐसे ऐसे खाना ये क्यों देखो ये बुद्धिपूर्वक मत करे इसलिए कनाद कहता है बुद्धिपूर्वा वाक्य कृति वेदे क्या बात है ड्रो नहीं देखो ये हमारी वो एक कथा थी कबूतर बेचारा इसलिए बना है बुरे कर्म के ये कबूतर यानी कई लोग कहते कबूतर बहुत सुखी है ये कबूतर जो है ना बेचारा ये बहुत जल्दी है सुखी है ये मैं आपको सुना रहा था देखो क्या की कथा बुद्धि पूर्वा वाक्य कृति निवेदी वह कहता तुम संसार के लोगों अथा तो धर्म रक्षा अच्छा जानी मैं धर्म की व्याख्या करूंगा और पदवचनाथ आमना ऐसे कामना का वेद का प्रामाण्य है मेरे धर्म में और इसलिए मैं वेद को अपने धर्म की पुष्टि के लिए रखता हूं क्यों क्यों रखते हो बुद्धिपूर्वक वाक्य कृति लिए बुद्धिपूर्वक वाक्य रचना रचना वेद में इसलिए मैं वेद को मानता हूं बुद्धिपूर्वक वाक्य कृति वेद बुद्धिपूर्वक रचना है ये विदेशी लोग भोगवादी अब तो कम पड़ गया नहीं भी कहते हो कुछ वर्षों पहले ये वेदों को गजलियों में गीत कहते थे ऋषिदान के भाष्य में की भाष्य भूमि का और इन्होंने आगे बढ़ के देखा अध्ययन भी किया होगा अब जहां तक मैं सुनता हूं प्राय कोई कम ही बात आती है कि ये गजलियों के गीत तो ये रचना वेद की रचना और ये हमारे शरीर की रचना ये सारी की सारी रचना ईश्वर की सिद्धि करती है ईश्वर को सिद्ध करती है आपने बड़ी रोचक कथा सुनी पहले कभी नहीं सुनी और देव को भोजन करवाया गया और राक्षसों को करवाया गया वो कथा है कि लगभग आपने क्या किया एक सन्यासी को बैठा दिया खूब खिलाया खूब पिलाया और खूब उसका आदर किया बार बार देखा उन्हें और जो स्वार्थी लोग हैं अपना मतलब सिद्ध करने वाले योग्यता कुछ नहीं वे कहते हैं लोग बहुत खराब है इस सन्यासी को खिला देते हमको नहीं खिला ऐसे ही देवों का और असुरों का आपस में संघर्ष होता है इनमें से देव लोगों का और असुरों का आपस में जो झगड़ा था इस बात के ऊपर था ये जहां तक मुझे याद है कथा था उसका प्रजापति नाम का व्यक्ति वो देवों को जब बुलाता तो बड़ा आदर करता बड़ा सम्मान करता और उन्हें राक्षसों को बुलाता तो उनका उतना सम्मान नहीं करता वो बेचारे डरते घूमते एक बार प्रजापति नामक व्यक्ति ने कहा कि भाई अब हमारे भोजन लिए घर पर आना और वो राक्षस लोग स्वार्थी लोग जो है वो सोचने लगे कि अब की बात देखते हैं ये क्या करता है उसने क्या किया राक्षसों को असुरों को बुलाया और पक्का रख दी या जो भी थे और लड्डू भी रख दिए और यहां तक के हाथ पर डंडा बांध लिया यहां इतना अच्छे एक डंडा और कहेंगे खाओ आधा घंटा वो डंडा मान के चलो वो बेचारे आधे घंटे से जूझते रहे मुंह तक वो हाथ जाए नहीं वो खाने से आधा घंटा तक आपस में सामने देखते रहे आधा घंटा हुआ उनको कहा चलो उठो समर हो गया उनको बड़ा दुख हुआ अब देव का नंबर आया देवों को बैठा दिया आपने सामने और कहने के खाओ डंडा उनको भी बांध दिया वो राक्षस लोग सोचने लगे हमारे हाथ में डंडा बना है और इनको नहीं बनेगा उनको भी बांध दिया उन्होंने क्या किया भाई ये श्याम सुंदर आ रही है मैं बैठा आपने सामने मैंने कहा श्याम सुंदर आ रही है मैं तो खा नहीं सकता आप मेरे मुंह में डाले मैं आप बस श्याम सुंदर आ रही अपने हाथ से मेरे मुंह में डाल देंगे और मैं आधा मीठा खा तो राक्षसों में और देव में अंतर अब ध्यान देना ये जो जोड़ है देखो हमारा ये इतना सुंदर है ये ना होता तो दूसरे को बुला बुला भी लेते आओ भाई भोजन करेंगे आओ और नाराज हो जाते तो भूखे मिलते तुम वो उसको खिलाए नहीं वो उसको खिलाए दूसरी बात पति पत्नी का झगड़ा होता है ऐसे झगड़े होते तो रोज यही झगड़ा होता वो पूछे मरते के वो उसको खिलाती नहीं और वो उसको खिलाता हमने तो हमने बताते भोजन के लिए ये कितनी विचित्र रचना है ये जो है रचना समझ में आए तो परमात्मा को स्वीकार करना पड़ता है मैंने बहुत विचार किया जिस समय मैं ये खोज करता था कि ईश्वर क्या है और ये शरीर क्या है बस एक मेरे सामने यही बात आती थी उनमें से ये शरीर बना कैसे ये आंख नाक हाथ पैर मैं इसको मेरा बोलता हूं मैंने क्या बनाया इसका मैंने इसकी कौन सी उंगलियां बनाई आंख नाक कान कुछ को बनाया होगा नहीं मां ने कौन तो क्या बनाया कुछ नहीं पिता ने क्या बनाया कुछ नहीं ये बात समझ में नहीं आ रही वही और है निसम आत्मा बच्चे जो पूछते हैं बच्चे तू ये बताए ये उंगली किसने बनाई तो क्या कहता मम्मी ने इन्होंने यही सिखाया मम्मी ने बनाई मैंने कहा मम्मी से तो उंगली और बनवा दिखा दो मम्मी से बनवा इन्होंने यही सिखाया मम्मी ने अब ये नहीं सिखाती कि जब भी पूछो बच्चे को शिक्षा देने का ढंग है ये उंगली किसने बनाई ये तो भगवान ने बनाई और उनका दिमाग बाल्यावस्था ही नहीं बन जाता है याद रखिए हमारी परंपरा में वैदिक परंपरा में बच्चे को बालिका को जो संस्कार डाले जाते हैं नास्तिक नहीं बनता ये जो भौतिक वैज्ञानिक नास्तिक क्यों बनते हैं इनको ऋषियों की परंपरा नहीं मिली समझ रहे इतने वैज्ञानिक होते हुए भी इतने तीव्र बुद्धि वाले होते हुए भी वेदों की परंपरा इनको नहीं मिली ऋषियों की परंपरा नहीं मिलने के कारण से आज उनके दिमाग में नहीं बैठता ईश्वर नाम का पदार्थ बहुत महती समस्या है उदाहरण के रूप में गलत ईश्वर को मानने वाले के दिमाग में जैसे वास्तविक ईश्वर नहीं बैठता और नहीं ईश्वर के मानने वाले के दिमाग में ईश्वर है ये बात नहीं बैठती इन संप्रदाय वाले को बुला के कहो भाइयों ईश्वर क्रम में विद्यमान है ईश्वर न्यायकारी है ईश्वर सर्वज्ञ है और करोड़ों लोग खड़े हो जाएंगे वो आपकी बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार है यदि हम नाम ले मोटे मोटे इतना इस्लाम जगत है इतना एक बाइबल को मानने वाला जगत है इतना पुराणों को मानने वाला है मोटे मोटे जो संप्रदाय उनमें हजारों की संख्या बन सकती है और उनके संस्कार ऐसे बने हैं ईश्वर को न मानने वाले जगत न मानने वाले बन गए और गलत ईश्वर को मानने वाले जो गलत बन गए संस्कार आप अपने जीवन को टेटोड़ो कई बार माताएं भी पूछती हैं पुरुष भी पूछते हैं कि स्वामी जी हां जब तक कोई आकार प्रकार ना हो कोई लंबाई चौड़ाई ना हो कोई रंग रूप ना हो ऐसे ध्यान कैसे ये लोगों का मन क्यों बन गया इसलिए बना है ईश्वर का स्वरूप लोगों को नहीं पढ़ाया गया नहीं सिखाया इसलिए हुआ हम जब इस सारी की सारी रचना को देखते हैं तो हमको ईश्वर समझ में आता है आप कभी ध्यान दो और निर्णय करने के लिए बैठ जाओ शांत वातावरण अपने से प्रश्न पूछो कुछ हे व्यक्ति तू इतना अभिमान करता है मेरा मेरा करता चला आ रहा है और जिस दिन वहां जाने के पश्चात एक सुई भी तेरे साथ नहीं चलेगी और जब पैदा हुआ था तब एक सुई नहीं आई थी ये आई थी जी और जाएगी नहीं इतनी विचित्र घटनाएं हैं इन घटनाओं में तो व्यक्ति को विवश होकर मानना पड़ता है कि हमको जब आए थे कहां से आए थे हम मां के पेट में कहां से आए मां को पता नहीं पिता को पता नहीं पड़ोसियों को पता नहीं बताओ कहां से आए थे इसका कोई उत्तर नहीं है दूसरे लोगों के पास मां के पेट में आए फिर मर गई बताओ कहां गई मर की कहां गई मर की मांगता है वो मांगता है और ये कहा करते हैं कि ये इस्लाम धर्म के मत के मानने वाले कहते भाइयों तुमको रूहों के दर्शन कराएंगे रूहें ये करती हैं रूहें ये करते क्या बेकार की बात करते हो ध्यान दो या तो ध्यान दो क्या दो बातों को याद रखना एक सिद्धांत है कि मरने के पीछे जीवात्मा ईश्वर के अधिकार में रोता है अथवा ये कहिए ईश्वर उसको अपने अधिकार में रखता है एक दूसरी बात जीवात्मा शरीर के न रहने के पश्चात कुछ भी नहीं कर सकता कहां जाना कहां आना कहां दुख देना कुछ भी नहीं कर सकता परीक्षण करना हो तो फल और खान सुना किसी को और करके दिखाई दे शरीर के होते हुए कुछ नहीं कर सकता क्लोरफान से लाने के लिए और शरीर मर जाने पर ये भागेगा ये दौड़ेगा ये करेगा ये बेकार की बात इसलिए याद रखिए मरने के पीछे ईश्वर को अपने अधिकार में रखता है और जैसे कर्म होते हैं वहां भेजता है मरने के पूर्व उसके मां के पेट में भेजने वाला ईश्वर है जीवात्मा अपने आप नहीं आता है इन बातों पर जब विचार करते हैं तो हमको पता चलता है ईश्वर नाम की चीज है और ऐसे खोज करते करते हम क्या परिणाम निकालते हैं हम इन भौतिक चीजों का प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं और परमात्मा की उपासना करते हैं वेद कहता है देखो ये प्रकृति है इससे लाभ उठाओ और विकृति से भी लाभ उठाओ वेद ऐसा नहीं मानता कि ये प्रकृति किसी काम की नहीं है इसी प्रकरण में अंधन समा प्रवेशन थी ये असंभूति वो पा सके तो हुए ये समा ये उसम क्या रहता है प्रकृति की जो उपासना करते हैं उसको उपास्य मानते हैं उपरी मानते हैं वो व्यक्ति अंधकार को प्राप्त करते हैं दूसरे दूसरा वर्ग विकृति को शरीर को चकाचौंध को इन चमकदारों वाले कार्य रूपी संसार को उपास्य मानते हैं जो उपासना के योग्य मानते हैं और ईश्वर को छोड़ देते हैं वो तो उसको भी भयंकर अंधकार होता है आप इतना ही नहीं समझना जो लोग मूर्तियों की पूजा कर लेते हैं उनको ही भगवान मानते वही अंधकार को प्राप्त करते ऐसा नहीं है ध्यान रखिए आपने सुना है हम इनका प्रयोग करेंगे परंतु जितना प्रेम हमारा ईश्वर से होगा इतना हमारा अपने शरीर से नहीं होगा जितना प्रेम ईश्वर से होगा हमारे वस्त्रों से नहीं होगा आभूषणों से नहीं होगा जितना ईश्वर में प्रेम होगा इतना भोजन से स्वादिष्ट भोजन से नहीं होगा जितना ईश्वर से प्रेम होगा सोना चांदी से नहीं होगा आगे बढ़ जाओ कठिन लगे आपको जितना प्रेम ईश्वर से होगा उतना बेटे पोते से नहीं होगा यदि है तो, तो वो संभूति की बात है ये बड़ी कड़वी लगती है बात जब बेटे पोते से भी विस्तार करोगे परमात्मा से कड़वी लगती है नहीं लगती कड़वी लगती है अब सत्य है वो कड़वा लगे तो थोड़ा सा सहन करो समन्वय देखो बच्चा प्रिय वस्तु है बहुत अच्छी बात है मां का अंग है इसमें कोई मतभेद नहीं पर याद रखिए बच्चे का पालन पोषण करना आत्मवत उसकी उन्नति करना पर किसने बच्चे को बनाया आपको बनाया सब कुछ दिया बच्चे का पालन पोषण का बल ईश्वर ने आपको दिया है पर बच्चे का सारा पालन पोषण करते हुए भी पर वहां ये प्यार की बात आएगी प्रेम की बात आएगी वहां बच्चे से भी बढ़ के ईश्वर के प्रति अधिक प्रेम होगा इतना ही नहीं आत्मा को ले लो हमको अपनी आत्मा से कितना प्यार है अपने आत्मा से कितना प्यार है अंतिम सीमा कई बार आ जाती है कई बार तो व्यक्ति सब कुछ को छोड़ देता है अपने को बचाने के लिए जहां तक तो तू जो प्राणों का भी प्राण परमात्मा को जो अपने प्राण के भी प्रिय समझता है वो वस्तुतः इस अंधकार को प्राप्त नहीं होता ऋषियों ने बताया वेद ने बतलाया इस असंभूति से भी काम लो और संभूति से भी काम लो अब ये आगे करके मंत्र भी इसका समाधान किया अन्य देव आहु संभव आहु संभवान अन्य आहु असंभवान इति सूक्ष्म में वीराण ये न विषय चक्षु क्या आगे क्या है संभूति से विनाशन तद वेदो उभयन देखो समझ रहे संभूति को और विनाश को जो दोनों को साथ साथ जानता है ध्यान देना संभूति को शरीर को सोना चांदी को धन संपत्ति को खाने पीने को ये सब बुद्धि को जो साथ साथ जानता है और विनाशम विनाशम तो और स्वाध्याय की तो व्यक्ति जानते होंगे ना दोहरा तो दिया ना उन्होंने विनाशम का क्या अर्थ है हाँ, हाँ। विनश्यंती है लयम प्रापयंती यश्याम का सा प्रकृति विनाश है जिसमें सारे पदार्थ नष्ट हो जाते हैं उस प्रकृति का नाम विनाश उस प्रकृति को जान करके संभूति को जान के संभूति से विनाश हमसे प्रकृति को जान के और सोना चांदी को जान के व्यक्ति दोनों को जो साथ साथ जानता है वो मृत्यु में कृत्वा अमृतम अश्रुति मृत्यु आदि दुखों से चल जाता है और परमात्मा को प्राप्त करता है इसलिए ऋषि लोग बिल्कुल मानते हैं धन संपत्ति खूब कमाओ ऐश्वर्यशाली बनाओ चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त करो पर समन्वय आज विश्व दुखी इसी कारण से यह समन्वय खत्म कर दिया ईश्वर को बिल्कुल तोड़ के दिया अर्थात खास दिया ये भयंकर आपत्ति खड़ी हो गई मनुष्य मनुष्य नहीं रह गया कई बार कई लोग दृष्टान देते हैं पहले लोग भेड़िए से बहुत डरते थे और मनुष्य इतने नहीं डरते और आज पहले रेडियो से लोग इतने नहीं डरते जितने था इतना भयंकर जंगल कहीं थोड़ा सा जंगल में जाते ही थोड़ी सी भी आगे बढ़ती एक मनुष्य दिखाई देगा मतलब क्या मन में आएगा आपको पहले <laughs> तो सोच मेरी रक्षा करेगा फिर सहायता करेगा फिर पानी पिलाएगा और कुछ आपके पास दो चार रुपये हो तो और और बीस तीस हो तो और और सोच मेरे पास एक हजार है बस फिर तो मौत ही दिखाई मनुष्य रूपे न मृगाचरण मनुष्य के रूप में ये भाई शेर घूम रहे <laughs> ध्यान दो जिस बात पढ़ लो कि किसी ने भाग लिया है आप ऐसी भूल मत कर देना जो केवल भोगवादी भूल करते हैं ये भूल मत कर देना संसार चक्कर सदा के चलता आया चलता रहेगा ये क्या थोड़ी देर की हड्डियां हैं ये मनुष्य की वो ईश्वर को नहीं मान के क्या करेगा वो नहीं <laughs> माने तो उसका क्या बिगड़ता भगवान का वो जो चार जीवाला वाला व्यक्ति नहीं माने तो भगवान का क्या बिगड़ा कच्ची मोड़ निकालेगा वो भगवान छोड़ेगा नहीं ये कैसे कर देगा भगवान के लिए क्या ही करेगा और आज का व्यक्ति वैज्ञानिक को जो कहता ये गुरु है ये है वो है जिसको वैज्ञानिक लोग कहते हैं भगवान की चिंता मत करो छोड़ दो भगवान का पचेदा है हमारे देश में ये वैज्ञानिकों की बात मानता आप ऋषि महर्षियों की बात क्यों नहीं मानते क्या वो वैज्ञानिक नहीं थे ये भारत के व्यक्ति का दिमाग खराब किया विदेशियों ने और विदेशियों ने जो दिमाग खराब किया उस खराब दिमाग वाले जो फिर भारत में पैदा हो गए विदेशियों का दिमाग विदेशियों का दिमाग इतना भयंकर उत्पन्न हुआ भारत में आप कोई कपड़ा देखो कोई और चीज देखो कोई भारत की अच्छी चीज देखो कोई विज्ञान की चीज देखो कोई दार्शनिक देखो ये देखते हैं ये भारत की है इसलिए इसको मत छुओ इसको मत खरीदो इसको मत लो क्योंकि ये भारत की ये दिमाग खराब है आश्चर्य की बात है इस देश में हम उत्पन्न हुए खाते हैं जीते हैं इसकी संपत्ति के अधिकारी करते और उस देश का द्रोह देश द्रोह ये बना रहता है इसको लज्जा नहीं कोई शर्म नहीं कोई बात नहीं पता नहीं क्या हो रहा आपने अनुभव नहीं होता कभी भाषा से घृणा ये भूषा से घृणा भोजन से घृणा राजनीति के नियमों से घृणा ऋषियों की परंपरा से घृणा खाने पीने अब हम तो खाते हैं बैठो आसन पे वो मन न बने और ये गधे की तरह खड़ा होगा भूत पैर के खाएगा उस शक्ति में जाएगा और वामू मारा वामू मारा वामू मारा गधे घोड़े की तरह घूमता देखे नहीं खाते हुए आप भी समझे होते हुए कभी नहीं होते गधे में गधे में यार घोड़े में घोड़ा निवृत्त क्या अब भगवान की बात दूरी जाओ तो वो भेड़ डाल है वो अभी वहां पर उसका विरोध हम बैठ के खाएंगे तो फौज में लड़ाई थोड़ी करनी है हाँ लड़ाई करनी हो तो खूब खूब घूट पैर खाओ मारो लड़ा दे आराम से खाओ खड़ा होने पर कैसे भोजन खाते गधे देखे मुंह से खाते थे दूसरे को ऐसे बात मारते <laughs> ये गधे का खाना है बाएं मारेंगे दाएं मारेंगे और इनकी दो तरह की मार होती है तो मुंह से काटते हैं और पैर से मारते ये बूट पैर करके पैर से मारते हैं मुंह से मारते दुकान में मिलावट करते हैं वहां खाते हैं वहां खाते हैं कितनी भयंकर शक्ति यदि मेरे हाथ में में आ जाए तो क्या करूंगा मेरी का मैं पूछो एक ही दिन में दांत खट्टे कर देते इलेक्शन नहीं करेंगे हम तो कल्पना करते हैं इन काले दिमाग ठिकाने लगा दूंगा तो। ये जो खराब दिमाग के जितने व्यक्ति ये कितनी भयंकर बात है देश जाति धर्म का विनाश करता जा रहा है और विदेश के गीत गाता है हम इतना मतभेद नहीं रखते कि विदेशी जैसी बात मत कहूं पर ये क्या बात है अस्सी से अस्सी चीज भारत की खराब और बुरी से बुरी चीज विदेश की अच्छी आपको लगेगी बड़ी बुरी थी हमारे तो यहां रहते हैं बैठ के टट्टी करो बैठ के सौट जाओ आराम से और ये क्या करते सड़क पर खड़े खड़े करो माता ईमानदारी ये है इसका विदेश की काम नहीं देखे आपने और बूढ़ा व्यक्ति है पढ़ा लिखा है सड़क पर खड़ा है पशु की तरह गधा देते खड़ा खड़ा पेशाब करना देखा नहीं देखा आपने अब ये भी कोई शिक्षा है क्या तो कुछ तो अकल से काम लो कितना बुरा लगता है वो अपनी बुद्धि से कुछ नहीं सोचता ना अभी जूते पहनता कैसी पैंट कैसी पहनता है आधा वो एक भाग जूते को पहनता है जूता पहने देखे कैसे जूते को क्या ठंड लगी अब कैसी नकल करता है ये व्यक्ति क्या कपड़े में क्या बालों में और बालों में पता नहीं कैसे कैसे बाल यहां रखता है कोई यू ये यहां ये गोल मैंने कहा ये भी क्या फैशन हुआ भाई जैसे किसी ने दाढ़ी फाड़ लिया लड़ाई होने पर इतनी बच गई हो ये भी ये भी कोई फैशन है क्या फ्रांस नाम का एक देश वहां ऐसी ऐसी रखते हैं बस हाँ। अब इसके दिमाग में ऐसी बात है भाई और तो देखने की कोई बात रही नहीं मुझे देख कर कोई ऐसा नकली भाई जिसे कोई देखना मेरी और लोगों को दिखाना है कैसे दिखाओगे विचित्रता पैदा कर दो और विचित्रता पैदा करके देखते हैं बंधु ऐसा नहीं है भगवान ने बुद्धि दी है हमारा दिमाग है जो बुद्धि पूर्वा वाक्य कृति वेदे बुद्धिपूर्वक काम करो बुद्धि से काम लो आप उनको मैं इसलिए सुना रहा हूं आप नकल करते उल्टी चीजों की नकल करते आपके बच्चे और वो आप बच्चों को ऐसा तैयार करते हो आजकल बैठना कोई एक आधी मां को छोड़ दो वो कैसे तैयार करती आप जानते हो पता नहीं क्या क्या तैयारी करते और उन बच्चों को न संध्या सिखाती उन बच्चों को न तो आदि समाज की बात सिखाती न ऋषियों का इतिहास पढ़ाती कुछ नहीं वो टेलीविजन और नाटकानी देखते रहते नकल नकल चल रही छोटे छोटे लड़के लड़कियां वो दिन रात टेलीविजन के गंदे गंदे गाने और वो नाटकानी देखते रहते और आप बैठे बैठे देखते रहते क्या ये कोई ये जंगली की जंगलियों की बात है क्या अपने घरों में जो ये इतनी बुराई फैलती चली जा रही है और आगे चलकर इतनी अवस्था बिगड़ चुकी है अब बारह वर्ष का बच्चा इतना बिगड़ जाता है कि माता पिता परिवार का मनाया हुआ नहीं मान सकता हम घरों में जाते उपदेश के लिए बुलाया मैंने अमृतसर की बात मैंने कहा आओ सुनो वो बैठ गए टेलीविजन में जब आप पता नहीं क्या बोलते हैं उसको क्या आ गया एक लड़की भागी हूं एक दूसरी भागी मैंने कहा ये भागर के मत रही है जैसे छोटी भी तो विशेष खाई माँ बैठी एक मुंह फाड़े मुंह बैठा बूढ़ा रोकने की हिम्मत नहीं दोनों भाई वो उठ गया मगर ये भी उठ जाए तो अच्छा ये कितना दिमाग खराब है कोई सीमा है क्या दिमाग खराब की या भगवान को भूल गए वेद की बात नहीं सुनते उपदेश नहीं सुनते गंदे नाम जाने के लिए वो भाग रहे ये क्या बात है अच्छा आप बड़े बड़े क्यों देख रहे हैं बात बताओ नहीं समझे घरों में हो रही है पड़ोस में हो रही है आपका बेटा कर रहा है बेटी के लिए आप बैठने किसी देते ये कब रहे बताओ क्यों कुछ बैठेगा बुद्धि गंडा कुछ तो होगा कुछ भी तो उपयोग नहीं कर रहे एक के पीछे एक बच्चा पे तो बेटा जा रहा मैं परिवारों में जाता हूं मां बीच वाली मां वो कहते बेटा बेटी आओ दो तीन बच्चों को मेरे पास में ले आए इनको स्वामी जी कुछ सिखाओ अब लगे सिखाने वो ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है वो ऐसा है सर इनको किसे सिखाऊंगा मैंने कहा कि मेरे बस के नहीं है आप डंडा लेके बैठ जाओ तो मैं सिखाऊंगा बस पूछो मैं <laughs> इतनी भयंकर अवस्था आई है ये व्यक्ति पता नहीं कहां डूबेगा कहां ये डबोएगा और बैठे मत रहो किसी ने लिखा है अन्यायकारी के चक्रवर्ती राजा ने क्यों ना हो उसका विरोध हम तो ये मान ऋषि ने अन्यायकारी कितना ही बलवान हो कितना ही शक्तिशाली हो धनवान हो वैज्ञानिक हो हम उसका विरोध करें नहीं मानेंगे किसी की बात नहीं मानेंगे ये हम ईश्वर की बात मानेंगे ये सीख के जाओ यार आपको तो जब ये आग नहीं लगी विचारों से तो आपने सीखा कहां पर और ये विचार बनाने के बनते हैं जिन लोगों ने बुराइयां फैलाई अन्याय फैलाया शराब खोल दी अर्थात बुराई को बुराई फैलती जा रही है और हम उसका विरोध तो करते हैं इसके पीछे से निकल करते और आगे इतनी बात सोचते हैं हम क्या करें याद रखो वो टुकड़ा उसने याद दिलाया था क्या था मत कहो जग में कर सकता क्या अकेला लाखों वार करता एक सूर सूरमा ये सिद्धांत उखाड़ के फेंक दो आप हमारे अंदर कितनी शक्ति है इतनी बुद्धि है इतनी शक्ति है और हम भगवान से शक्ति का उपार्जन करें विद्वानों से करें किसी के ग्रंथों से करें इतने स्रोत है शक्ति के और ये एक व्यक्ति एक स्त्री पुरुष इतना बलवान है समाज इसको रोक नहीं सकता राजा रोक नहीं सकता इसको शरीर से मार सकता है तो तैयारी आप यह मैं भाषण देना बंद करूंगा वापस है जी बस करना ही है और देखो ये मत सोचो मैं बीस वर्ष जीऊंगा पता नहीं भूकंप कब आ जाए हाँ ये कई लोग तो योजना बनाते रहते इतने दिन जिएंगे मैं करूंगा तो ओर से दंड मिलेगा और घर वाले बुरा मानेंगे और पड़ोसी भी मुझे क्या कहेंगे ये नहीं माना जाता वो ये सोचता है पता नहीं कल मेरा ये शरीर रहेगा या नहीं रहेगा वेद के अनुसार और सोचता है आज ही दान आज आपने खूब दान दिया दिया नहीं दिया अब जब दिमाग खुल जाता पता नहीं कल क्या होगा और वो आता है विदुर का या विधिष्ठ जी का संवाद है लगभग मैं उसका भाव सुनाता हूं ऐसी बात आई उसने कहा कोई दान मांगने आया और विदुर की बात है इसलिए कहने लगे वही ऋषि जी बोलते हैं भाव सुना रहा हूं मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा कि भाई तू परसों आना तो विदुर थे आप कौन थे कह रहे भाई परसों आने की बात आप क्या भविष्यवाणी कर रहे हो क्या परसों तक जियेंगे आप इसलिए कहते परसों आना तो ऐसा तो मैं नहीं कहता फिर तो कैसे क्या पता है आप परसों जियेंगे या नहीं जिये बोला ठीक है अभी बुलाओ उसी से मैं बुलाया काम जब व्यक्ति ये देखता है शरीर क्षण भर का पता नहीं कब नष्ट हो जाने वाला है वो व्यक्ति क्या करता है किसी से नहीं डरता ईश्वर को देखता है ईश्वर की जगह पालन करता मरना जीना रोज रहता अनादिकाल से मरते जीते आए अनंत काल तक मरते रहेंगे कोई नहीं घटना बंद हो फिर आपको बदलो सोचो आपको पता है थोड़े से लोग क्या कर सकते हैं उस समय की बात है जब हम छोटे छोटे थे और उस समय महात्मा गांधी जी ये सुभाष चंद्र जी के जो भी हो जो आयोजन होते थे और हम छोटे छोटे बालक थे अंग्रेजों का राज्य था भयंकर वातावरण था उस समय और ये बूढ़े लोग पगड़ी वाले आपको नहीं मानना कभी बुरा मान जाओ ये पगड़ी वाले हुए कोई टोपी वाला बूढ़ा तो ये कहते थे हो सुनो क्या बात है तीन अंग्रेजों का राज्य जहां सूर्य निकलता है जहां छिप जाता है वहां तक ये गांधी जी अरे सुभाष पागल है ये कभी जा सकते नहीं है ये कागज ये बूढ़े लोग अब बताओ एक दो नहीं हजारों लोग बलिदान एक के पीछे एक दूसरा पीछा खाते गए और उसी देते गए और अंग्रेजों को बाहर निकाल देते क्या नहीं हो सकता मैंने पटना में देखी एक चीज बिहार में वो चित्र था लगभग मैं उसका भाव सुनाता हूं वो चित्र क्या था पता नहीं छह या सात व्यक्ति पंक्ति में चल रहे एक झंडा ले रहे आजादी का होगा ध्यान देना वो घटना क्या थी हम स्वतंत्र भारत को बनाना चाहते झंडा काट देना है अंग्रेजों का जब राज्य था तो वहां गोली वाला भी तैयार था उसके सामने याद रखो जहां तक मैं समझता हूं उस बात को वो एक उन्होंने योजना बनाई कि पहले व्यक्ति को गोली देगी वो मर जाएगा तो दूसरा झंडे को गिरने नहीं देगा दूसरा मर जाएगा तो तीसरा झंडे को नहीं गिरने देगा तीसरा मरेगा तो चौथा नहीं गिरने देगा और चौथा मर जाएगा तो पांचवा छठा ऐसी सूची योजना थी हमने सुना अंग्रेजों के राज्य में गोली मारी पहला खत्म हो गया दूसरे ने झंडा पकड़ लिया उसको गोली मारी मर गया तीसरे ने झंडा पकड़ लिया उसको गोली मारी मर गया चौथे ने मुझे याद नहीं छह थे या सात अंत वाले व्यक्ति ने झंडा काट दिया उसको गोली नहीं मारी ये है जीना जीना इसको कहते सांस ले रहे हैं अजगर की तरह एक साल आता कभी मर नहीं जाऊंगा और भले व्यक्ति तुम मरता तो वही मरेगा भी ये डर की बात का बंधुओं समय आगे बढ़ रहा है बस इतना कहने पर भी आप में आग नहीं बची तो आग लगने वाली नहीं है <laughs> ये तो जागने की बातें जगना है सुलतान भटकते देखे हैं बिन आत्म ज्ञान के दुनिया में इंसान के देखे हैं आम बसर की तो बात ही क्या सुल्तान भटकते देखे हैं बिन आत्म ज्ञान के दुनिया में नहीं जो सब सुखों की दौलत है मिलती है आत्म ज्ञानी को मिलती है आत्म ज्ञानी जो सब सुखों की दौलत है मिलती है आत्म ज्ञानी को मिलती है आत्म ज्ञानी को तस्कीने के दिन तो देखा है तस्कीने के दिन तो देखा है धनवान भटकते देखे हैं जन आत्म ज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे आम बसर की तो बात ही क्या सुल्तान भटकते देखे हैं बिन आत्म ज्ञान के ज्ञान तो किसने ऐसी इंडिया पर आत्म ज्ञान ही सीखाना पर आत्म ज्ञान ही सीखा जोर लगाना पड़ेगा कि सांस लेने के काम चलेगा सब ज्ञान तो इसने सीख लिया पर आत्म ज्ञान ही सिखाया पर आत्म ज्ञान यह कारण है कि पंडित भी आने जाने भटकते देखे हैं दिन आत्म ज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं आम बसर की तो बात ही क्या सुल्तान भटकते देखे हैं जिन आत्म ज्ञान के दुनिया जो भटक भटकते देखे हैं ये आंसू भटकते के देखे जो भटकाते हैं और को ये आप भटकते देखे ये आप भटकते हैं में भटकते देखे हैं साइंस दाने भटकते देखे हैं जैने आत्म ज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं आम बसर की तो बात ही क्या फूल खाने भटकते देते हैं आत्म जाने के दुनिया जिस महफिल ने भी देखा है हर एक को भटका पाया है हर एक को भटका पाया है जिस मसले में भी देखा है हर एक को भटका पाया है हर एक को भटका पाया हर मैंबर की तो बात ही क्या हर मैंबर की तो बात ही क्या प्रधान भटकते देखे हैं जिन्हें आत्म ज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं आम बरसर की तो बात ही क्या सोले कान भटकते देखे हैं आत्म ज्ञान के जो आत्म ज्ञानी होता है बल मान सारी ही दुनिया में बल माने सारी ही दुनिया में जो आत्म ज्ञानी होता है बल मान सारी ही दुनिया में बल मांगे है सारी दुनिया वैसे तो पतिक दुनिया में बलवान भटकते देते हैं दिन आत्म ज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देते हैं आम बसरगी तो बात ही क्या सुल्तान भटकते देखे हैं दिन आत्म एक सत्पंदी तो मेरी जो देते जाती यानी बोलो अज्ञान के कारण मानव को क्या है अज्ञान के कारण हम्म, मैं तो वो भूल गया इसका आप भी भूल रहे हो नहीं भूले आप अज्ञान की वृद्धि इतनी हुई मानव को ही ईश्वर मान लिया मानव को ही ईश्वर मान लिया और जाने माने लोगों के अब जाने माने लोगों के भगवान भटकते देते हैं आत्म ज्ञान के इंसान भटकते देते हैं आमे बसर की तो बाटे दी क्या शूल भर सकते देखे हैं दिन आसन अब तो शक्ति होगी ना बंद करें जो व्यक्ति भगवान को छोड़ के प्रकृति की जिक्र की उपासना करते हैं आप घोर यूनियम जाते हैं आप आए हैं ना इस सारे ज्ञान को खाते सके चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो तो प्रोफेसर हो चाहे वैज्ञानिक हो ये भागो इस देश से बाहर निकलो तो तुम्हारा अधिकार नहीं है क्यों क्या कहा वेद ने इमाम भूमि हम अपनी वो से बोल रहा हूं ददामी आई वेद मंत्र में साफ लिखा है इस भूमि को मैंने आदमियों के लिए दिया नहीं लिया ईश्वर ने कहा कि भूमि को मैंने आर्यों के लिए दिया नास्तिकों के लिए अनार्यों के लिए बिल्कुल नहीं दिया इनको बाहर निकाल इनके लिए भूमि नहीं है तो ईश्वर को नहीं अब हम ग्राम की ओर जाएंगे ये समापन हो रहा है और आज हमारे मोटे मोटे तगड़े तगड़े व्यक्ति फरीदाबाद से आए और उन्होंने कहा कि आपको तो शांति गीत सुनवाओ तो शांति गीत भी सुना देंगे हम तो इतना सुना देंगे फिर काल आपको आंख काट के उठाएंगे जो बिना उठोगे <laughs> ये मुश्किल हो जाएगी यहां सो जाओगे कहीं तो और वही घटना मुझे याद आती है प्रति जी कहा करते थे देख नजारा शिव के ऊपर ये बालक चक्रा उठो पिताजी आंखें खोलो आवाज़ जारा जे कनारा बालक ये आवाज़ लॻाता जारा की पिताजी सो गए, चाचा जी सो गए, पिताजी दादा जी सो गए सब व्रतधारी सो गए सब व्रतधारी और शिव जी और पार्वती सो गए पंडे और पुजारी पंडे और पुजारी केरल के ऊपर चूहा खील पता से खाता मिटो पिताजी आंखें ये आवाज देखो मैं इतना जानता हूँ आप प्रातःकाल सूर्योदय हो जब तक नहीं सकने वाला आपकी हालत क्या होगी मेरे हम्म, घर वाले कहेंगे हूं मुझे चल कर जाना था दिल्ली की ओर चले गए संसारा की ओर चलिए बस का भी पता नहीं चला आगे में चलियो कोई भी बस में बैठ जाए जाकर अच्छा आप देखो सुनो आप हमें शांति की दिखाएंगे और फिर सोने की भी तैयारी करेंगे अन्यथा प्रातः काल की दिनचर्या खराब हो जाएगी ईश्वर की महती कृपा से हमने आपने सबने मिलकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया ये समापन हो रहा है और इस वर्ष से हमको विविध प्रकार की सहायता मिलती है मिलेगी और उसको लेकर के हम मानव जीवन को अच्छा बनाएंगे और प्रेरणा तो विष्णु आर्य की घंटी हमारे दिमाग में सदा बढ़ती रहने के लिए मानसिक रूप में अब जो है मैं इसको सूचना दे सकते शांति प्रभु से भुवन जल में फल में और God इस मनुष्य शरीर को पा के ईश्वर की प्राप्ति करना और दूसरों को भी करवाना ये हमारे दो ही काम होंगे मनुष्य जीवन का सार्थक होना मनुष्य जीवन की सफलता मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य ईश्वर को पा लेना और दूसरों को प्राप्त करवा लेना इसमें और किसी में नहीं कोई माने नहीं माने जाने नहीं जाने चारों वेद दर्शन उपनिषद लाखों ऋषि होते आए सबने एक ही निर्णय लिया उपनिषदों में ब्रह्म विद्या का वर्णन है ईश्वर का स्वरूप बहुत विस्तार से बताया गया वहां उपनिषद का भाव आपको सुनाता हूं केन उपनिषद ईश केन कर है चेता वेदी अथ सत्यमस्ती हे व्यक्ति इस मनुष्य जन्म में ही इसी जीवन में ही अवेदित यदि ईश्वर को जान लिया अथ सत्यमस्ति सत्य है उचित है सफल नैचे भी है वेदित यदि भगवान को इस मनुष्य शरीर में जीते जीते नहीं जाना महती विनष्टि तेरा विनाश हो गया बस ये अंतिम निर्णय देते हैं आर्य समाज के एक बहुत बड़े विद्वान स्वामी ब्रह्म मुनि जी हुए उनसे मैंने भी संन्यास की दीक्षा ली थी उनसे मैंने सांख्य दर्शन भी पढ़ा गुरुकुल क्षेत्र में पढ़ाने आते थे तो उन्होंने लगभग साठ सत्तर ग्रंथ लिखे निरुक्त दर्शनों के भाष्य हिंदी में संस्कृत में उनका जीवन सारा बहुत तपस्या का जीवन रहा बाल्यावस्था से लेकर के इतनी बड़ी अवस्था तक पढ़ते पढ़ाते रहे उत्तम से उत्तम काम करते रहे एक उनका जीवन है जीवन चरित्र है वो पढ़ के देखूंगा उसका थोड़ा सा भाग सुनाता हूं उन्होंने अपना दोष माना बहुत बड़ा गुण है ये उनका दोष माना हमने जीवन चरित्र में लिखते हैं मैंने सब उत्तम काम किए जीवन भर उत्तम काम में करता रहा अंग उपांग आदि को पढ़ाता पढ़ता रहा व्याख्या करता रहा और उपासना भी कुछ कुछ करता रहा इतना समय नहीं लगाया पर मैंने सोचा यह था कि जब मेरी अवस्था साठ के लगभग हो जाएगी सड़सठ हो जाएगी तब मैं विशेष योगाभ्यास करके ब्रह्म का साक्षात्कार करूंगा ये लिखा हूं सड़सठ सड़सठ अवस्था हो जाएगी तब मैं करूंगा अब वो कहते हैं अब मेरे पैर में इतना दर्द है ईडी में इतना दर्द है मैं बैठ नहीं सकता उपासना कर नहीं सकता